भजन आटू संकट में जी love ने कछु और न भाव मरे शब्द के घा बिन बहार के अब के भी रास आ न सके कि गुंज खिल तो सके खिल के मुस्कुरा न सके मेरी तबाही ए दिल पर तो रहम खा न सके मगर कभी वो नजर से नजर मिला न सके वो सब जा नंगे चमन है जो लहला न सके वो गुल है जख में बहारा जो मुस्कुरा न सके ये आदमी है वो परवाना समय दानिश का जो रोशनी में रहे रोशनी को पा न सके उन्हें साधते मंजिल रस्सी नसीब हो क्या वो पांव राहे तलब में जो डगमगा न सके न जाने आहे की उन आंसुओं पे क्या गुजरी जो दिल से आंख तक आए मिझे तक आ न सकी करेंगे मर के बकाए दबाम क्या हासिल जो जिंद रह के मकाम हयात पा न सके जहर खलू से मोहब्बत है कि हादिसाते जहां मुझे तो क्या मेरे नक्श कदम मिटा न सके मेरी नजर से गोरेजा बहुत रहे लेकिन मेरे खुलू से मोहब्बत से बच के जा न सके ये महरु माह मेरे हम सफर रहे बरसों फिर उसके बाद मेरी गर्द को भी पा न सके मेरी नजर ने सब गम उन्हें भी देख लिया वो सुमार सितारे की जगमगा न सके घटे अगर तो बस एक मुस्तक आखे है इंसान बढ़े तो उस अति कोने में समा न सके नया जमाना बनाने चले थे दीवाने नई जमीन नया आसमान बना न सके आदमी एक अभिप्रसा है एक आकांक्षा कुछ होने की असीम को छूने की आदमी एक बीज है और जब तक बीज फूल तक न पहुंच जाए तब तक चैन नहीं तब तक बेचैनी रहेगी धन हो कितना पद हो कितना प्रतिष्ठा हो कितनी कुछ काम ना आएगा बीज को फूल तक पहुंचाना ना इसके अतिरिक्त और कोई संतोष का उपाय नहीं एक तो संतोष है मुर्दा है कि आदमी अक्रमण्यता में करके बैठ जाता है कि जो है सो ठीक है और एक संतोष से जीवंत जो तब उपलब्ध होता है जब बीच फूल बनते हवाओं में मुस्कुराते सुवास बिखेरते चांतारों से गुफ्तगु करते हैं ये दिन बाहर के अबके भी रास आ न सके कि गुंचे खिल तो सके खिल के मुस्कुरा न सके क्या यह जिंदगी भी ऐसे ही बिता देनी बीच बीच ही रह जाएंगे ये दिन भी रास न आएंगे कि कलियां कलियां ही रह जाएंगी फूल न बनेगी संभावना संभावना ही रहेगी या इसे सत्य में बदलना है जो इसे सत्य में बदलने में लग जाता है वही व्यक्ति धार्मिक है न मंदिरों में जाने से कोई धार्मिक होता न मस्जिदों में जाने से कोई धार्मिक होता है ये आदमी है वो परवाना समय दानिश का जो रोशनी में रहे रोशनी को पा न सके और जिसे हम तलाश रहे वो हमारे चारों तरफ मौजूद परमात्मा हमें खिलाने को तत्पर पर हम भी किसी सिकुड़े बैठे रोशनी बरस रही है और हमने की आंखें बंद किए बैठे उसका संगीत बज रहा है मगर हम बहरे बने बैठे परमात्मा से निकट और कुछ भी नहीं उससे ज्यादा सत्यतर और कुछ भी नहीं वही है हवाओं में वही है सरिता की दार में वही है सागर की लहरों में और फिर भी इतना दूर वही हमारी धड़कनों में वही हमारी श्वासों में और फिर भी इतने दूर कहीं चूक हमसे हुई जा रही है हम शायद सूरत की तरफ पीठ किए हुए उन्हें सादत मंजिल रसी नसीब हो क्या वो पांव राह तलम में जो डगमगा ना सके हमारी होशियारी ही हमारी मौत हुई जा रही हमारी समझदारी ही हमें बाजारों में भटका रही है थोड़ा निर्दोष चित्त चाहिए उसे पाने को थोड़ी मत मस्ती चाहिए थोड़े पैर डगमगाए थोड़ी आंखों में आंसू हो थोड़ा हृदय गीला हो उन्हें साते मंजिल रसी नसीब हो क्या उन्हें नहीं मिलेगी जीवन की मंजिल असंभव है जीवन की मंजिल का मिलना वो पांव राह तलब में जो डगमगा न सके जो उसे खोजते समय दीवानों की तरह न चले प्रेमियों की तरह न चले मस्तों की तरह न चले न जिन्होंने कभी गीत गाया न कभी जो मुस्कुराए न कभी जो रोए न कभी जो नाचे जो कभी जीवन के आह्लाद से न भरे और न कभी जिन्होंने जीवन के रहस्य को अनुभव किया है जोड़ते रहे धन हिसाब लगाते रहे खाते बहियों में आंखें गड़ाए बैठे रहे बाजारों में आंखें न उठाई आकाश के चांदारों की तरफ इस जगत में दो जगत एक जगत उसका बनाया हुआ और एक जगत आदमी का अपना बनाया हुआ जब पलटू जैसे संत कहते हैं सपना यह संसार तो तुम ये मत समझना कि वे परमात्मा के संसार को सपना कह रहे हैं परमात्मा का संसार तो कैसे सपना हो सकता है सृष्टा सत्य है तो उसकी सृष्टि कैसे स्वप्न हो सकती है और जिसकी सृष्टि स्वप्न हो वो सृष्टा कैसे सत्य होगा नहीं एक और संसार है जो हमने बना लिया है फूल चांदारे तो सच मगर नोट हमारी ईजाद है झरने पहाड़ सागर तो सत्य है लेकिन पद और प्रतिष्ठाएं ये हमारी खोज एक संसार है जो आदमी ने बना लिया है अपने चारों तरफ जिससे मकड़ी जाना बनती है ऐसे आदमी एक संसार बनता है वासनाओं का आकांक्षाओं का इच्छाओं का इच्छाओं का भविष्य का आज तो नहीं है कल कुछ मिलेगा लोभ का विस्तार है वह संसार काम का विस्तार है वह संसार एक तो संसार है जहचाते पक्षियों का खिलते फूलों का आकाश को तारों से भरा एक तो संसार है जो परमात्मा के हस्ताक्षर लिए हुए और एक संसार है जो आदमी ने बना लिया है जब भी ज्ञानियों ने कहा है सपना यह संसार जो तो तुम्हारे संसार के संबंध में कहा है जो तुमने बना लिया है मगर आदमी बड़ा चालबाज वो अपने बनाए संसार को तो झूठा नहीं मानता वो परमात्मा के बनाए संसार को झूठा मान के उसका त्याग करने लगता है धन छोड़ देता पद छोड़ देता प्रतिष्ठा छोड़ देता दुकान छोड़ देता बाजार छोड़ देता घर द्वार छोड़ देता है भाग जाता जंगल में मगर ये त्याग भी तुम्हारा संसार है ये संतत्व भी तुम्हारी ही ईजाद है और वहां बैठ के भी अहंकार ही निर्मित होता है वही धन से निर्मित होता था वही त्याग से निर्मित होता है वही भोग से निर्मित होता था वही तपस्या से निर्मित होता है तुमने ढंग तो बदल लिए मगर मूल आधार वही के वही है तुमने पत्ते तो छाट दिए मगर जड़े वही की वही फिर पत्ते आ जाएंगे फिर वही पत्ते आ जाएंगे नए रूप नए रंग में मगर रस धार वही होगी जब तक तुम जाग के ये न समझो कि आदमी का बनाया हुआ सब झूठ है जब तक ये तुम्हारा अनुभव न हो जाए और ये मत सोचना कि मर के पालोगे जीवन व्यर्थ जा रहा है तो मृत्यु भी व्यर्थ जाएगी क्योंकि मृत्यु तो जीवन की ही पराकाष्ठा है न जाने आय की उन आंसुओं पर क्या गुजरी जो दिल से आंख तक आए मिझे तक आ न सके ऐसे भी आंसू हैं जो हृदय में तो उठे आंखों तक भी आ गए लेकिन पलकों तक न पहुंच पाए ऐसे भी लोग हैं जो मंजिल के बहुत करीब थे एक कदम और ठीक दिशा में बस एक कदम और और मंदिर के द्वार खुल जाते लेकिन लोग पाते पाते चूक जाते क्योंकि चुकाने का बहुत आयोजन है भटकाने को बहुत पंडित है बहुत पुरोहित है पहुंचाने को तो शायद कभी कोई बुद्ध पुरुष होता है पहुंचाने को तो कभी कोई मुश्किल से सदगुरु होता है दिया जलाने वाले तो बहुत मुश्किल से मिलते जलते दिए को बुझा देने वाली बहुत भीड़ है करेंगे मर के बकाए दगाम करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल जो जिंदा रह के मकान हयात पा न सके क्या पा सकोगे तुम मरकर क्या मंजिल मिलेगी मर के क्या परमात्मा मिलेगा जब जिंदगी गंवा दी और जिंदगी में ही जिंदगी की मंजिल न पा सके जीवन है क्षण जोड़ो अपने को प्रभु से उस जोड़ने का नाम ही भजन है सेतु बनाओ अपने और उसके बीच प्रेम का भीगे हुए हृदय का आंसुओं का फूल खिलाओ अपने और उसके बीच दिए जलाओ अपने और उसके बीच सेतु बनाओ वह तो आने को तत्पर है तुम जरा अपने हृदय को खोलो बस एक चीज है जिससे परमात्मा बच के नहीं जा सकता है रहे फिर तो उससे मोहब्बत की हादिसाते जहां मुझे तो क्या मेरे नक्श कदम मिटा न सके मेरी नजर से बुरे जा बहुत रहे लेकिन मेरे खुलू से मोहब्बत से बच के जा न सके आंख से तो बहुत बचने की कोशिश की बचते रहे लेकिन मैंने जो प्रेम का जाल फेंका उससे बच के न जा सके प्रेम के जाल के फेंकने का नाम भजन है भजन कला है तोतों की तरह दौड़ाने से नहीं होता प्राणों को डालने से होता है और तब आदमी छोटा नहीं भजन से जुड़ जाए तो आदमी उतना ही बड़ा है जितना भगवान क्योंकि आदमी भगवान है घटे अगर तो बस एक मुस्तखाक है इंसान बढ़े तो वसरते तो कोने में समा न सके घटे तो बस एक मुट्ठी भर राख और यही होती हालत अधिक लोगों की बस एक मुट्ठी भर राख मर के और क्या रहोगे एक मुट्ठी भर राख परिजन परिवार के लोग उठा लाएंगे हालांकि उस राख को भी हमने अच्छे प्यारे नाम दिया हम कहते फूल हम छिपाते अच्छे शब्दों में सत्यों को मुर्दे की राख बीनने जाते कहते फूल बीनने जा रहे मुर्दे की राख को गंगा में सिराने जाते कहते फूल सिराने जा रहे जो जिंदगी में फूल न हो सका है वो अब चिता पे फूल हो गया है जिसकी जिंदगी दुर्गंध ही दुर्गंध थी अचानक मर के सुगंध हो गया है घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान बढ़े तो वसते कौन में समा ना सके घट जाए तो एक मुट्ठी भर राख मुट्ठी भर दूर और बढ़ जाए तो ये सारा आकाश भी छोटा है ये सारा अस्तित्व भी छोटा है बढ़ जाए तो सारे अस्तित्व को अपने में समा ले फिर उसके भीतर आकाश है फिर उसके ही भीतर चांदारे फिर उसके ही भीतर परमात्मा मालिक उसके भीतर है फिर और इससे बड़े होने की क्या संभावना है आदमी अगर जागे ना तो मुट्ठी भर राख रह जाता है और जागे तो विराट आकाश हो जाता है बिना जागे तृप्ति नहीं है जागने की प्रक्रिया का नाम ही भक्ति के शास्त्र में भजन है भजन आतरी कीजिए और बात में देश और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा पलटू कहते हैं जल्दी करो आतुरी करो तीव्रता करो त्वरा करो भजन में देर न हो कौन जाने मौत कब आ जाए भजन पूरा हो जाए फिर आए मौत क्योंकि भजन पूरा हो जाए तो मौत आके भी नहीं आ पाती भजन पूरा हो जाए तो मौत तुम्हें छू भी ना सकेगी जैसे कमल पत्थरों को जल नहीं छू पाता ऐसी ही मौत तुम्हें भी न छू सकेगी ये तो भजन की कमी है कि मौत जीत जाती अन्यथा तुम अमृत के पुत्र हो अमृत से पुत्र मौत तुम्हें छुए असंभव मौत तुम्हारे पास फटके असंभव दिया जला हो फिर अंधेरा पास आ जाए असंभव हाँ दिया ही बुझाओ तो फिर तो अंधेरा होगा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर लेकिन लोग बड़े उल्टे हैं और बात में जल्दी करते हैं क्रोध करना हो तो देर नहीं करते लोभ करना हो तो देर नहीं करते धन कमाना हो तो देर नहीं करते दौड़ते हैं लगे ही रहते हैं आपाधापी में दिन रात चौबीस घंटे सतत भजन करना हो तो कहते हैं कल अभी और काम है भजन टालते ऐसे टालते टालते तो मौत आ जाएगी ऐसे भजन को कल टालते रहे तो कल कभी आता है कल कभी आया है कि आएगा पलटू कहते हैं और बात में देर करो तो चलेगा क्रोध ना भी किया तो क्या बिगड़ जाने वाला है लोभ ना भी किया तो क्या खो जाएगा माया मोह का विस्तार ना भी किया तो कुछ गमाया नहीं ऐसे भी मौत आएगी तो सब छीन लेगी जिसे मौत ही छीन लेगी उसे तुमने इकट्ठा किया या ना किया बराबर है एक ही चीज को मौत नहीं छीन पाती भक्त उसे भजन कहता ज्ञानी उसे ध्यान कहता बस उसको मौत नहीं छीन पाती जिसे मौत न छीन पाए वही संपदा है और जिसे मौत न छीन पाए ऐसी संपदा जिसके पास है वही जिया उसका बीज फूलों तक तो पहुंचा उसकी संभावना सत्य बनी वो एक सपने की तरह नहीं रहा वह एक सत्य की तरह जिया और सत्य की तरह रहा और सत्य की तरह मृत्यु में उसने प्रवेश किया हंसते और नाचते क्योंकि मौत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती उसके लिए मौत है ही नहीं उसके लिए मौत एक झूठ है मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से आसकारा तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा वो अगर बुरा न माने तो जहाने ने बूमे मैं सुकून दिल की खातिर कोई ढूंढ लू सहारा मुझे तो से खास निस्बत मैं रही ने मौज तूफान जिन्हें जिंदगी थी प्यारी उन्हें मिल गया किनारा मुझे आ गया यकीसा कि यही है मेरी मंजिल सरे राह जब किसी ने मुझे दफअतन पुकारा मैं बताऊं फर्क ना से जो है मुझ में और तुझ में मेरी जिंदगी तला तुम तेरी जिंदगी किनारा मुझे गुफ्तगु से बढ़कर गमे इसमें गुफ्तगु है वही बात पूछते हैं जो न कह सकू दोबारा कोई ए शकील देखे ये जुनू नहीं तो क्या है कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा परमात्मा का होने का अर्थ है कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा परमात्मा तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा को पाने के पहले तो तुमको मिट जाना होता है मैं मिटे तो परमात्मा मिलता है इसलिए परमात्मा मेरा तो कभी हो ही नहीं सकता मैं के अभाव में ही तो उसका अनुभव होता है मैं को मिटाने की कला भजन कोई शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा मैं बताऊं फर्क नाते जो है मुझ में और तुझ में हे धर्मोपदेशक मुझ में और तुझ में क्या फर्क है मैं बताऊं फर्क नाते जो है मुझ में और तुझ में मेरी जिंदगी तुम तेरी जिंदगी किनारा तू किनारे तरह रहा है हम तूफानों में जी रहे हैं छोड़ो ना किनारे छोड़ो सुरक्षाएं छोड़ो किनारे के मोह छोड़ो अज्ञात की यात्रा पर निकलो तो भजन तो नाव है अज्ञात की यात्रा पर भजन तो चुनौती है तूफानों को स्वीकार करने की और जो जिंदगी में तूफानों को स्वीकार करता है निखार आता है बहुत निखार आता है उसके प्राणों में उसकी आत्मा उज्जवल होती उसमें चमका एक दीप्ति आती एक ज्योति जगती ज्योति मुफ्त नहीं जगती तूफानों से टक्कर लेनी ही होती व्यक्तित्व की आग ऐसे ही नहीं उभरती भीड़ के अंग ही बने रहोगे तो राख में ही दबे रहोगे व्यक्ति बनो भीड़ों से मुक्त हो न हिंदू तो होने की जरूरत है न मुसलमान होने की जरूरत है न ब्राह्मण होने की जरूरत है न सूत्र होने की जरूरत है आदमी होना काफी है और अगर कुछ होना हो तो परमात्मा हो अब उससे छोटा क्या होना आदमी से भी नीचे गिरना कि मुसलमान होना कि हिंदू होना कि जैन होना कुछ ऊपर उठो नहीं तो मुट्ठी पर खाक रह जाओगे प्रेम करो तूफानों से अगर प्रेम करो असुरक्षा से अगर प्रेम करो अज्ञात से तो तुम्हारे जीवन में संन्यास घटित हो गया संन्यास है असुरक्षा में जीना परमात्मा सुरक्षा है तो हम अब और सुरक्षा क्या करें परमात्मा धन है तो अब हम और धन के पीछे क्या दौड़े परमात्मा परम पद है तो अब और सब पद छोटे हैं और ऊंचे मुझे तुझसे खास निस्बत मैं रहीने मौज तूफान जिन्हें जिंदगी थी प्यारी उन्हें मिल गया किनारा तूफानों में भी किनारा मिल जाता है एक प्रेम चाहिए प्रेम की एक आंख चाहिए प्रेम की प्रज्वलित अग्नि चाहिए हम चूकते हैं क्योंकि न तो ध्यान है और न प्रेम है हम चूकते हैं क्योंकि न तो हम अपने भीतर उतरते हैं और न इस विराट में प्रवेश करते हम मध्य में ही अटके रह जाते हम त्रिशंकु एक तरफ ध्यान पुकारता है ध्यान है मार्ग अपने भीतर उतरने का अकेले होने का एक तरफ प्रेम पुकारता है लेकिन प्रेम है चुनौती प्रेम है समर्पण प्रेम है अहंकार विसर्जन न हमसे अहंकार विसर्जन हो पाता और नाम से एकांत में प्रवेश हो पाता हम अटके रह जाते बीच में हम इन दो पाटों के बीच में पिस जाते बहुत बार जिंदगी ऐसे ही खराब हुई भजन आतुरी कीजिए और बात में देर और बात में देर जगत में जीवन हो रहा मानुष धन जात गौरधरी करो निहोरा ये तो चली जिंदगी ये जा ही रही जिंदगी रोज जा रही हाथ से छिटकी जा रही मानुष तन धन जात जागो गोड़धरी करो ने हो रहा टेक दो घुटने जमीन पर कर लो उसका निहोरा पुकार लो उसे गिरा लो आंसू उसकी प्रीति में समर्पित हो जाओ गोड़ धरी करो निहोरा घुटने टेको अकड़े अकड़े काम ना चलेगा लोग नदी के किनारे भी पहुंच के प्यासे खड़े क्योंकि झुक नहीं सकते हाथ की अंजलि नहीं बना सकते शायद अपेक्षा कर रहे हैं कि नदी छलांग लगाए और उनके कंठ तक पहुंच जाए नदी तैयार है मगर झुकना होगा तुझे हाथ की अंजलि बनानी होगी झुकना समर्पण हाथ की अंजलि बनाई भजन फिर तृप्ति तुम्हारी परम तृप्ति तुम्हारी फिर कौन तुम्हें वंचित रख सकता है मेरी जिंदगी पे न मुस्कुरा मुझे जिंदगी का अलम नहीं जिसे तेरे गम से हो वास्ता वो खिजा बाहर से कम नहीं मेरा कुफ्र हासिल जोहत है मेरा जोहत हासिल कुफ्र है मेरी बंदगी है वो बंदगी जो रही ने तैरो हरम नहीं वही कारवा वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं न फना मेरी न बका मेरी मुझे ये शकील न ढूंढिए मैं किसी का हुसने ख्याल हूँ मेरा कुछ वसूख और तो अदम नहीं न तो हमारा कोई अस्तित्व है न हमारा कोई अनस्तित्व है न फना मेरी न बका मेरी डरते क्या हो अपना है क्या सब उसका है दो तो उसका है न दो तो उसका है न फना मेरी न बका मेरी न जीवन अपना है न मृत्यु अपनी न होना अपना है न न होना अपना फिर क्या कंजूसी उसका उसको देते और कंजूसी तो तो वस्तु तुभ्यमेव समर्पे तेरी चीज और तुझे दे दे इसमें भी कंजूसी आ रही न फना मेरी न बका मेरी मुझे ये शकील न ढूंढिए मैं किसी का हुसन ख्याल हूं मेरा कुछ वसूद और अदल नहीं हम है ही क्या सिवाय उसकी तरंगों की लेकिन लहरें भी अकड़ी बैठी और सागर पर समर्पित नहीं हम सब ने अपने अहंकार को खूब मजबूत कर लिया है इस अहंकार के अतिरिक्त और हमें कोई रोक नहीं रहा है परमात्मा को पाने से बहाने मत खोजना कि अतीत जन्मों के पाप रोक रहे तुमसे मैं कहता हूं नहीं अतीत जन्मों के पाप क्या खाद रोकेंगे अतीत जन्मों के पापों का फल तो तुम पा चुके अतीत में और ये भी मत सोचना कि भाग्य में तुम्हारे लिखा नहीं परमात्मा कोरे कागज की तरह आदमी का भाग्य देता है लिखते हो जो कुछ तुम लिखते हो कोई बिताता नहीं तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा अपना निर्माण है तुम्हारी किस्मत पर तो तुम कुछ लिखा के नहीं आते हो कुछ लिखा नहीं है कि तो यही होगा तुम चाहो तो सब संभव है हाँ मगर बहाने खोजने हो तो किस्मत प्यारा बहाना है कि क्या करे अपनी किस्मत में नहीं क्या करे अतीत जन्मों के पाप बाधा डाल रहे हैं ये सब चालबाजियां है होशियारियां है और होशियारी जिसने की भजन से बचा भजन के लिए बोलापन चाहिए भजन में बोलापन हो तो फिर मेरा कुफ्र हासिल जोहद है फिर तो तुम्हारी नास्तिकता भी आस्तिकता हो जाए और फिर तुम जिसको अब तक आस्तिकता समझते थे वो नास्तिकता मालूम पड़ेगी मेरा कुफ्र हसले हासिल जोहद है मेरा जोहद हासिल कुफ्र है मेरी बंदगी है वो बंदगी जो रही ने दैरो हरम नहीं फिर तुम की प्रार्थना को जिसका कोई नाता न मस्जिद से है और न मंदिर से प्रार्थना तो तुम्हारा अंतर्भाव है तुम्हारे भीतर उठ आए नृत्य का नाम है तुम्हारे भीतर जग गए उत्सव का शीर्षक है मानुष तन धनजात गोड़ धरी करो निहोरा एक दो पैर पृथ्वी पर झुक जाओ कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता तुम्हारी हालत ऐसी है कच्चा है महल कांच कच्चा उसके भीतर तुम रह रहे हो कब कांच का ये महल टूट जाएगा किस घड़ी किस पल कुछ पता नहीं इसका कुछ भरोसा मत करना कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता और है ही क्या तुम्हारी जिंदगी एक पवन पंछी सांस आई सांस गई एक पवन पंछी दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठते चेता और इंद्रियों के दरवाजे दस खुले जिनमें से कभी भी पंछी उड़ जाए दरवाजे भी पिंजरे के बंद नहीं है खुले हैं और एक भी दरवाजा नहीं दस दरवाजे खुले कब सांस बाहर गई और न लौटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक सांस है समर्पित हो जाओ भजन आतुरी कीजिए और बात में देर और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा मानुष तन जात गौड़ करुण्य करो निहोरा कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता दस दरवाजा खोड़ा उलन को नित उठ चहता भज लीजो भगवान यही में भल है अपना चेताते जगाते होशियार करते सो मत तो जाना जिंदगी सोए सोए ना गमा देना बच लीजो भगवान भगवान को स्मरण कर लो उसकी स्मृति ही बचाएगी अंतिम क्षणों में आवा गौन छुट जाए जन्म की मिटे कल्पना एक ही भला है एक ही कल्याण है एक ही मंगल है जीवन है वह परमात्मा को पा लेना उसे जिसने पाया सब पाया उसे जिसने गमाया सब गमाया उसे पाते ही सारा आवागमन छूट जाता है फिर न आना है न जाना है फिर बस गए फिर बस गए अनंत में फिर शाश्वत का अंग हो गए फिर न कोई जन्म न कोई मृत्यु फिर इन पिंजरों में भटकने की जरूरत नहीं आवागमन छूट जाए जन्म की मिटे कल्पना और ये जो दुख है जन्म का और जीवन का और मृत्यु का और ये जो हजार हजार दुख जीवन के मार्ग पर फैले जीवन का रास्ता बड़ा कंटिका कीड़ है बड़ा पथरीला है पहुंचना तो बहुत कम भटकना बहुत आसान चोटे ही चोटे ही घाव ही घाव है जीवन यहाँ नरक से अतिरिक्त और क्या है मैंने सुना है एक आदमी मरा और जब उसने नरक के द्वार पर दस्तक दी सर्दी के दिन है और शैतान भी कंबल ओढ़े बैठा है शैतान को भी बड़ी दिक्कत मालूम नहीं कब फिर उठो फिर दरवाजा खोलो दुष्ट चले ही आते उसने ऐसी खिड़की से झांक के कहा कि भाई क्यों सताते हो क्या बात उस आदमी ने कहा कि मैं मर के आया हूं दरवाजा खोलो मुझे भीतर आने दो शैतान ने पूछा कहाँ से आ रहे हो आदमी ने कहा पृथ्वी से आ रहे हैं शैतान ने कहा तो स्वर्ग जाओ क्योंकि नरक तो तुम पृथ्वी पे भोग ही चुके अब और क्या नरक भोगना अब भोगने को बचा क्या है तुम जरा अपनी जिंदगी को एक तरफ रख देखो जैसे किसी और की जिंदगी हो अपनी नहीं साक्षी की तरह देखो दृष्टा की तरह देखो तो क्या पाओगे कांटे ही कांटे अंधेरा ही अंधेरा घाव ही घाव एक लंबी व्यथा है तुम्हारी कथा विषाद की संताप की चिंता की दुखों से मिलना हुआ है सुख तो केवल आसान अटके रहे आवागमन छूट जाए जन्म की मिटे कल्पना पलटू अटक न कीजिए चौरासी का ढेर चूको मत क्योंकि मनुष्य होना दुर्लभ दुर्लभ इसलिए कि मनुष्य के जीवन में ही संभव है पतन और विकास जानवरों का कोई पतन नहीं होता और कोई विकास भी नहीं होता वे जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते कोई कुत्ता कुत्ता होने से नीचे नहीं गिर सकता या कि तुम सोचते हो गिर सकता है तुम किसी कुत्ते से कह सकते हो क्या गई तो कुत्ते से भी नीचे गिर गया नहीं किसी कुत्ते से ये कहना सार्थक नहीं होगा लेकिन आदमी से तुम कह सकते हो कि हद हो गई तुम आदमी से भी नीचे गिर गए आदमी के लिए दोनों संभव है आदमी से ऊपर उठ जाए आदमी से नीचे गिर जाए आदमी एक सीढ़ी है चाहे तो नर्क और चाहे तो स्वर्ग वही सीढ़ी नर्क ले जाती है एक दिशा में वही सीढ़ी स्वर्ग ले जाती है दूसरी दिशा में आदमी अनूठा है इस पृथ्वी पर गुलाब गुलाब है चंपा नहीं हो सकता चमेली नहीं हो सकता आदमी कुछ सुनिश्चित रूप लेकर पैदा नहीं होता सिर्फ एक पूरी संभावना जो कुछ भी बन सकती है जो रावण बन सकती है या राम बन सकती है वही मिट्टी वही श्वास रावण बनती है वही मिट्टी वही श्वास राम बनती है राम और रावण जब पैदा होते हैं तो एक ही संभावना लेके पैदा होते हैं और जब मरते हैं तो कितना भेद होता है कितना आकाश पाताल का भेद होता है मनुष्य के जीवन में चुनाव की स्वतंत्रता है जो किसी और जीवन में नहीं मनुष्य अकेला स्वतंत्र अकेला एकमात्र स्वतंत्रता का धनी मालिक चाहो तो सौभाग्य बना लो चाहो तो दुर्भाग्य बना लो तुम अपने निर्णायक हो तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन को बना रहा है तुम्हारा हर कृत्य तुम्हारे जीवन को रूप दे रहा है आकार दे रहा है तुम क्या बनोगे किसी और पर जिम्मेवारी नहीं डाली जा सकती आदमी चालबाजियां करता है जिम्मेवारियां दूसरों पर डालना चाहता है मगर वे सब आत्मवंचनाएं अच्छा हो उन झंझटों में ना पड़ो क्योंकि तो उनसे लाभ कुछ भी नहीं मनुष्य जीवन चुका तो फिर पता नहीं कब मिले कितनी देर लगे पलटू अटक न कीजिए चौरासी घर फेर बड़ी मुश्किल से आदमी हुए हो बड़ी मुश्किल से चौरासी कोटि योनियों के चक्कर काटते काटते ये असंभव घटा है कि मनुष्य हुए कितने तड़फे होंगे मनुष्य होने के लिए कितनी कितनी आकांक्षाएं अभिक्षाएं न की होंगी कितनी प्रार्थनाएं न की होंगी और फिर मनुष्य जीवन का उपयोग क्या कर रहे हो उसे ऐसे गमा रहे हो जैसे उसका कोई मूल्य ही नहीं लोग बैठे ताश खेल रहे हैं शतरंज खेल रहे हैं लकड़ी के हाथी घोड़े दौड़ा रहे हैं पूछो क्या कर रहे हो कहते समय काट रहे हैं समय एक पल भी खरीद ना सकोगे सिकंदर भी ना खरीद सका मध्यमक सिकंदर ने अपने चिकित्सकों से कहा था मुझे 24 घंटे बचा लो बस 24 घंटे और ज्यादा नहीं चाहता कोई बहुत बड़ी आकांक्षा ना थी फिर सिकंदर 24 घंटे बचना चाहे और न बच सके तो फिर सिकंदर और भिकमंगे में भेद क्या रहा लेकिन चिकित्सक से झुका लिए उन्होंने कहा असंभव है मौत तो आ गई अब तो पल दो पल के मेहमान है आप चौबीस घंटे बचाए नहीं जा सकते सिकंदर क्यों चौबीस घंटे बचना चाहता था एक छोटा सा वचन दिया था जब निकला था विश्व विजय की यात्रा पर तो सिकंदर की मां ने कहा था बेटा लंबी यात्रा है कठिन यात्रा है अच्छा तो ये होता है कि झंझट में तू न पड़ता लेकिन तू मानता नहीं मैं बूढ़ी हो गई हूँ तुझे दोबारा देख पाऊंगी या नहीं तो सिकंदर ने कहा था मैं वचन का पक्का हूँ तू जानती है कि मैं वचन का पक्का हूँ जो कहूंगा वो करूंगा लौट के आऊंगा हर हाल लौट के आऊंगा और सिकंदर लौट रहा था वापस हिंदुस्तान से फासला केवल इतना था कि अगर 24 घंटे का अवसर और मिल जाता तो वो अपना वचन पूरा कर लेता बस कुछ ही कोसों की दूरी पर उसकी मृत्यु हुई घर से वचन अधूरा रह गया वचन देने में ही भूल हो गई वचन देते समय याद ना रखा कि मैं वचन का कितना ही पक्का हूं लेकिन मौत बीच में आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा महाभारत में प्यारी कथा है पांडव वनवास कर रहे हैं अज्ञातवास कर रहे हैं एक भिकमंगे ने सुबह सुबह द्वार पर दस्तक दी अपना भिक्षा पात्र फैलाया युधिष्ठिर द्वार पर ही बैठे धर्म शास्त्र पढ़ रहे धर्मराज तो धर्म शास्त्र पढ़ते होंगे भिकमंगे से कहा कल आना भीम भी पास ही बैठा हुआ मालिश कर रहा है अपने शरीर की और क्या कर रहा होगा दंड बैठक लगा रहा होगा और क्या कर रहा होगा कि गदा घुमा रहा होगा उसने ये सुना उसने जल्दी से एक घंटा लिया और बजाता हुआ गांव की तरफ भागा युधिष्ठ ने पूछा कहा जाता उसने मैं जरा गांव में खबर हूं कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय पा ली क्योंकि उन्होंने एक भिकमंगे को कहा कल आना कल तुझे भिक्षा देंगे कभी कभी युधिष्ठिर जैसे धर्म पंडित को भी जो बात चूक जाए वो भीम जैसे सीधे साधे आदमी को समझ में आ जाती बात तो युधिष्ठिर को चोट कर गई भागे भीम से का रुख भिखारी को बुलाकर लाए कि नहीं कल का आश्वासन ठीक नहीं कल का क्या भरोसा है मैं तो सिर्फ टालने के लिए क्योंकि किताब पढ़ रहा हूँ बीच में तुम बाधा टालने आ गए कल आ जाना मगर भीम ठीक कहता है कल आए ना आए मैं न रहू तुम न रहो वचन पूरा न हो सके तुम भी आज ही ले जाओ हम टालते चले जाते हैं समय को काटते हैं जिसका इतना मूल्य है इस सिकंदर ने अपने चिकित्सकों को कहा कि मैं अपना आधा राज्य भी देने को तैयार हूँ मुझे बचा लो मैं अपना पूरा राज्य भी देने को तैयार हूँ मुझे बचा लो मैं अपने वचन को पूरा करना चाहता हूँ लेकिन चिकित्सन का पूरा राज्य दे या न दे अब इससे कुछ भेद नहीं पड़ता जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती बात खत्म हो गई सिकंदर की आंखों से कहते हैं आंसू जल के और सिकंदर ने कहा काश मुझे कोई ये बात पहले कह देता कि जिस राज्य को जीतने में चला हूं जिस राज्य को जीतने में सारी जिंदगी गंवा रहा हूं वो पूरा का पूरा राज्य देते चौबीस घंटे भी न खरीद सकूंगा तो मैंने जिंदगी ऐसी न कमाई होती मगर मुझे किसी ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने न कहा मुझे पक्का पता है कि एक आदमी ने सिकंदर को कहा था उसका नाम डायोजनीस था पलटू जैसा आदमी रहा होगा मस्त मौला है नंग धड़ंग करता था नदी के किनारे कुछ भी न था उसके पास एक तरफ सिकंदर जो सारी दुनिया की मालकियत का दीवाना और एक तरफ था डायोजनी नंग धड़ंग पहले तो एक भिक्षा पात्र भी अपने पास रखता था लेकिन एक दिन वो भी छोड़ दिया बुद्ध तो भिक्षा पात्र कम से कम रखते थे डायोजनी ने वो भी छोड़ दिया था एक दिन भिक्षा पात्र को लेकर नदी की तरफ जा रहा था प्यास लगी थी पानी पीने तभी एक कुत्ता भी हाँपता हुआ उसके पास से गुजरा और उससे पहले पहुंच गया नदी में और जाके पानी पीने लगा ने नाराज हो गई मात दे दी मुझे इस कुत्ते ने बिना भिक्षा पात्र के और अगर कुत्ता बिना भिक्षा पात्र के जी सकता है तो फिर मैं क्यों परेशानी इसको मैं क्यों रोता फिर वही नदी में बहा दिया कुत्ते से दोस्ती कर ली दोस्ती दोनों की जम गई कुत्ता और डायजनी दोनों साथ ही साथ रहने लगे रहता भी क्या था एक टीन का पोंगरा था कचरा घर का जो पोंगरा होता है टीन का जिसमें कचरा फेंकते वो पोंगरा सड़ गया था तो गांव कि लोगों ने उसे गांव के बाहर नदी के किनारे डाल दिया था वो उसी पोंगरे में रहता था उसी में कुत्ता भी रहने लगा था सिकंदर से उस डायोजनीज ने निश्चित कहा था कि जो करना हो वो अभी कर लो कल तो मत टालो सिकंदर डायोजनीज से मिलने गया था और डायोजनीज ने पूछा था कि कहा जा रहे हो उसने कहा था विश्व विजय की यात्रा पर सिकंदर ने पूछा फिर क्या करोगे उसने कहा फिर क्या करूंगा फिर विश्राम करूंगा तो डायजनी ने कही तो हद हो गई अपने कुत्ते से की सुन भाई देखता है हद हो गई हम अभी विश्राम कर रहे हैं दोनों सिकंदर कहता सारी दुनिया जीत लूंगा फिर विश्राम करूंगा सारी दुनिया का जीतना और विश्राम इसमें कोई तार्किक संबंध है इसमें कोई गणित है जब हम बिना दुनिया को जीते मजे से विश्राम कर रहे हैं तो तुम्हें क्या आर्चन है विश्राम कर रही इतनी झंझट लेकर फिर विश्राम करोगे छोड़ो झंझट नदी का किनारा बड़ा है और ये तो हमारा जो पोंगरा है ये भी कुछ छोटा नहीं पहले मैं अकेला रहता था फिर ये कुत्ता भी रहने लगा तुम भी रहने लगो वर्षा धूप में काम दे देता है वैसे तो नदी के तट तो गुजर जाता है और तट बड़ा है तुम भी विश्राम करो दुनिया जीतने चले हो सिकंदर पर सिर झुक गया कहा कि क्षमा करना बात तो ठीक लगती मगर बीच से लौट नहीं सकता यात्रा तो ये मुझे पूरी करनी होगी एक कसम ले ली कि दुनिया जीत कर रहूंगा डायोजिन ने कहा कसमें हमारी कसमें हमारे वचन इनका मूल्य क्या है ये सब अहंकार की घोषणा है और मैं तुमसे कहता हूं कि यात्रा पूरी करके वापस न लौट सकोगे कोई कभी यात्रा पूरी करके वापस नहीं लौटता इस दुनिया की सभी यात्राएं बीच में टूट जाती दस साल का बच्चा मर जाए तो हम कहते हैं असमय मृत्यु और सत्तर साल का आदमी मरता तो हम नहीं कहते असमय मृत्यु लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ सभी मृत्यु असमय होती क्योंकि सत्तर साल वाला बूढ़ा भी अभी मरने की तैयारी नहीं कर रहा था अभी वो भी कल के लिए राजी था कि कल होगा सभी मृत्युआ असमय है क्योंकि तैयारी कोई नहीं असमय का क्या अर्थ होता है बिना तैयारी के सिर्फ उसकी मृत्यु असम नहीं जिसने भजन किया ब्रज लीजो भगवान यही में भल है अपना बस एक ही भला है इस जगत में एक ही श्रेय एक ही मंगल बच लीजो भगवान पलटू अटक न कीजिए चौरासी घर फेर भजन आतुरी कीजिए और बात में देश हजार गर्दिशे शामो शहर से गुजरे हैं वो काफिले जो तेरी रह गुजर से गुजरे हैं अभी हवस को मैसर नहीं दिलों का गुदाल अभी ये लोग मकाम नजर से गुजरे हैं हर एक नक्श बैठा तेरे नक्शे पाका गुमा कदम कदम पे तेरी रह गुजर से गुजरे हैं न जाने कौन सी मंजिल पर जाके रुक जाए नजर के काफले दीवारों दर से गुजरे कुछ और फैल गई दर्द की कठिन राहें गमे फिराक के मारे जिधर से गुजरे जहाँ सुरूर मैसर था जामो मैं के बगैर वो मैं कभी भी हमारी नजर से गुजरे ऐसी जगह भी हैं जहां बिना पिए नशा आ जाता है उन्हीं जगहों का उन्हीं मधुशालाओं का नाम सत्संग है वहां से गुजर मत जाना जहां सुरूर मयसर था जाम और मैं के बगैर वो मैं कदे भी हमारी नजर से गुजरे निश्चित ही ऐसी मधुशालाएं हैं कभी मिट्टी नहीं पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मधुशाला बनती ही रहती क्योंकि परमात्मा आदमी को बिछाड़ नहीं पाता उसके लिए कोई ना कोई आयोजन जुटाता ही रहता है ऐसी मधुशालाएं हैं जहां शराब नहीं ढलती और फिर भी मस्ती पी जाती है पिलाई जाती अगर कभी ऐसी मधुशाला के करीब आ जाओ तो चूक मत जाना परहेज मत करना व्रत नियम तोड़ देना डुबकी मार लेना भजन ऐसी ही शराब है जो बेहोश भी करती और होश से भी भरती नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने ये और बात है दुनिया नजर न पहचाने वो वजन देखी है मेरी निगाह ने कि जहां बगैर समाधि जलते रहे हैं परवाने ये क्या बाहर का जोबन ये क्या निषाद का रंग फसुरदा मैं कदे वाले उदास मैं खाने मेरे नदीम तेरी चश्मे इल्तिफात की खैर बिगड़ बिगड़ के समझते गए हैं अफसाने ये किसकी चश्म साज का करिश्मा है कि टूट कर भी सलामत है दिल के बुत खाने वह परमात्मा बनाता ही रहता है कोई काबा कोई काशी कोई नया काबा कोई नई काशी पुराने काबे पुराने काशी तो उजड़ जाते जल्दी ही पंडितों के हाथ में पड़ जाते पुरोहितों के हाथ में पड़ जाते लेकिन वो जल्दी कहीं और नया तीर्थ निर्मित कर लेता है जिनको पीना है उनके लिए उसकी तरफ से कोई कमी नहीं जिनको पीना है उनके लिए कुछ न कुछ मार्ग बन ही जाता है वो में देखी मेरी निगाह ने कि जहां बगैर समा भी जलते रहे हैं परवाने बिना पिए पीना हो जाता है बिना जले जलना हो जाता है ऐसा चमत्कार ऐसा करिश्मा ये किसकी जश्न फुसू साज का करिश्मा है ये किसकी जादू भरी आंख का चमत्कार है कि टूट कर भी सलामत दिल के बुध खाने माना कि आदमी आज बहुत उदास है हताश है माना कि आज आदमी की नजरों में अंधेरा ही अंधेरा है और हृदय में अब फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कसूर है तो बस तुम्हारा है जरा समझो जीवन का जो महान अवसर मिला है उसका थोड़ा उपयोग करो काटो मत समय ये बहुमूल्य समय काटने को नहीं है ये बहुमूल्य समय जीवन निर्मित करने को है ये जीवन संवारने को है जीवन को श्रृंगार दो मगर भजन के बिना कहा जीवन को श्रृंगार है जीवन को सौंदर्य दो मगर भजन के बिना जीवन में कहा सौंदर्य है जीवन को सत्य दो लेकिन भगवान के बिना जीवन को कोई सत्य न मिला है न मिल सकता है क्या कारण है कि आदमी सुन लेता है ऐसी बातें फिर भी चलता जाता अपने ही पुराने ढंग पुराने रवैये से पुराने डब से कारण है प्रेम बाण जाके लगा सो जाने का पीर सो जाने का पीर काहे मूर्ख से कहिए ये जो परमात्मा से बचते हैं हम उसका कारण है क्योंकि तो परमात्मा से जुड़ने का अर्थ है अपने हृदय को उसके प्रेम बाण के लिए खुला छोड़ देना असुरक्षित छोड़ देना हटाओ सारे कवच हटा लो ढाले आने दो उसका तीर चुप जाने दो प्राणों में तीर होगी बहुत तीर लगेगा तो तीर तो होगी मगर वह पीड़ा बड़ी मधुर है पर जानोगे तब जब घटेगी लाख कबीर कहे लाख नानक कहे लाख पलटू कहे लाख मैं कहूं लेकिन जब तक तीर तुम्हें न लगेगा जब तक तीर तुम्हारे भीतर न फैल जाएगी तब तक तुम जान न पाओगे ये कोई साधारण तीर नहीं है जो मारता है ये ऐसा तीर है जो जिलाता है ये तीर कुछ जहरीला नहीं है अमृत है प्रेम बान जाके लगा सो जाने का पीर लोग डरते प्रेम बान से डरते बचते सो जाने का पीर काह मूर्ख से कहिए और उनसे तो ये बात कही ही नहीं जा सकती जो अहंकार की मूर्ता से भरे हुए बस एक ही मूर्ता है इस जगत में अहंकार की उनसे तो ये बात कही ही नहीं जा सकती और ज्ञान अहंकार को जितना परिपुष्ट करता है और कोई चीज परिपुष्ट नहीं करती तथाकथित ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान वेद कुरान बाइबल पुराण कंठस्थ है अहंकार सजा हुआ बैठा है लग रहा है तिलक पहले जनेऊ जमे है पंडित जरा गौर से देखो अहंकार ने ज्ञान के आभूषण पहन लिए ज्ञान की ओठ में छिप गया है पंडित जितने अहंकारी होते हैं कोई और नहीं होता बड़ी धार होती है उनके अहंकार त्यागी बड़े अहंकारी हो जाते इन सबको पलटू मूर्ख कह रहे हैं इनसे बात ही मत करना ये कुछ समझेंगे ही नहीं क्योंकि ये पहले से ही समझे बैठे ये समझे बैठे हैं कि इन्होंने समझ ही लिया है शब्द कंठस्थ कर लिए तोतों की तरह और सोचते हैं जान लिया जो जान नहीं होगी प्रेम बाण जाके लगा सो जाने का की इनको तो प्रेम बाण लगने वाले ही नहीं ये तो खोपड़ी में जी रहे ये तो हृदय को भूल ही गए ये तो हृदय का मार्ग ही बिसार दिए इनके भीतर हृदय है इसका भी इन्हें पता नहीं रहा है ये तो खोपड़ी में बंद है कैद है सो जाने का पीर काल मूर्ख से कहिए इन मूर्खों से तो कुछ कहना ही मत ख्याल रखना जब भी संत मूर्ख शब्द का प्रयोग करते तो उनका अर्थ साधारण अर्थ नहीं होता उनका अर्थ नहीं होता बेपढ़ा लिखा गमार नहीं उनका अर्थ होता है पढ़ा लिखा गमार मन को आग लगाने की बात करता हूं समझ सको तो ठिकाने की बात करता हूं शहर को समा जलाने की बात करता हूं ये गाफिलों को जगाने की बात करता हूं रविश रविश बिछा दो बबूल के कांटे चमन से लुत्फ उठाने की बात करता हूं वो बागबान जो पौधों से बैर रखता है ये आप ही के जमाने की बात करता हूं वो सिर्फ अपने लिए जाम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जाम कर रहे मैं तलब मैं हर किसी को पिलाने की बात करता हूं जहां चराग तले लूट है अंधेरा है वहां चराग जलाने की बात करता हूं न काबिल रुए जमाना न उठ सकेगी कि मैं गुणों से ओस उठाने की बात करता हूँ घिसे हुओं को नई फिक्र दे रहा हूँ शायद मंजे हुओं को सिखाने की बात करता हूँ थोड़ा सा निर्दोष हृदय चाहिए तो ही तुम्हारे भीतर संभावना है प्रेम के तीर को झेल लेने की प्रेम की बातें अटपटी शहर को समा जलाने की बात करता हूं ये गाफिलों को जगाने की बात करता हूं प्रेम की बातें अटपटी क्योंकि प्रेम की बातें अतर्क सुबह कोई समा जलाता है दिन को कोई दिया जलाता है फिर तुम्हें तो डायोजनीस की याद दिलाऊं वो दिन में ही हाथ में एक लालटेन लिए घुमा करता था जलती लालटेन बंद पहली तो लोग पूछते कि डायोजनीस होश में हो सूरज चमक रहा है धूप बरस रही है चारों तरफ रोशनी लालटेन किस लिए जलाया तो डायोजनीस कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं बड़ा अंधेरा है काश सूरज के उगने से अंधेरा मिट जाता तो सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते बड़ा अंधेरा है बड़ी अमावस है हाथ को हाथ नहीं सूझता है इसलिए लालटेन जला है घूम रहा हूं आदमी की तलाश कर रहा हूं और जब डायोस मरा तब भी वो अपनी लालटेन पास रखे लालटेन जल रही थी दोपहरी तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी किसी ने पूछा डाल जिंदगी भर तुम कहते रहे कि बड़ा अंधेरा है इसलिए लालटेन जला के आदमी की तलाश कर रहा हूं आदमी मिला डायोजनीज ने कहा आदमी तो नहीं मिला लेकिन मेरी लालटेन बच गई ये क्या कम क्योंकि कई की नजर लालटेन पे लगी थी इतने धन भाग मेरी लालटन कोई चुरा नहीं ले गया नहीं तो नंगे आदमी के पास लालटेन कौन बचने थे कोई भी छीन लेता कोई भी चुरा लेता दार्जिलिंग ने कहा कि मैंने लोगों की आंखों में मैं जो रोशनी देना चाहता था उसकी उत्सुकता नहीं देखी लेकिन मेरी लालटन की उत्सुकता देखी कि किसी तरह पा जाए तो छोड़े नहीं शहर को समा जलाने की बात करता हूँ ये गाफिलों को जगाने की बात करता हूँ चमन को आग लगाने की बात करता हूँ समझ सको तो ठिकाने की बात करता हूँ प्रेम की बातें जरा अटपटी समझ सको तो सीधी साफ है लेकिन अगर बहुत अकलमंदी हो सब उल्टा हो जाता है प्रेम की वाणी अटपटी इसलिए कबीर की वाणी को कहा उलट बांसी जैसे कोई बांसुरी को उल्टी तरफ से बजाए हम तर्क से जीते वहां दो दो चार होते सदा दो दो चार होते कोई भी जोड़े दो दो चार होते प्रेम की दुनिया में दो दो कभी पांच भी हो जाते कभी तीन भी हो जाते कभी दो दो एक भी हो जाते कभी दो दो तो मिलकर शून्य भी हो जाते वहां सब संभव है वहां असंभव संभव है सबसे बड़ी असंभव घटना तो ये संभव है कि आदमी की सीमित क्षमता और असीम का अवतरण हो जाता है मुट्ठी भर खाक में सारा आकाश उतर आता है जिसकी कोई औकात न थी एक बूंद जैसी जिसकी सीमा थी उसमें सारा समुन्दर उतर आता है असंभव घटता है लेकिन तभी जब कोई प्रेम के इस तीर को झेलने को तैयार हो प्रेम बांध जाके लगा सो जाने का पीर सो जाने का पीर काहे मूर्ख से कहिए दिल भर लगे न ज्ञान ताही से चुप भी रहिए ये तथा कथित ज्ञानियों को तिल भर भी ज्ञान नहीं है और इनको ज्ञान लग भी नहीं सकता इन्होंने तो खूब चिकनाई पोत रखी है शास्त्रों के अपने चारों ऊपर ये तो चिकने घड़े वर्षा भी होती रहे तो भी उनको पानी छुएगा नहीं पंडित से ज्यादा चिकना घड़ा तुमने देखा उसमें ऐसी चिकनाई लगी है पानी छू ही नहीं सकता मैं छोटा था तो मेरे गांव में मेरे पड़ोस में घी बेचने वाले एक सज्जन रहते थे उनके कपड़ों में इतना घी लग चुका था महाकंजूस साधन तो पर दूसरी जोड़ी कपड़े भी थे ये भी संदिग्ध मैंने नहीं देखे दूसरी जोड़ी कपड़े वो एक ही जोड़ी कपड़ा पहने रहते थे और दिन भर घी बेचना हो घी खरीदना घी ही घी हो गया था उनके कपड़ों पर मैंने उनको स्नान करते देखा वो कपड़े नहीं उतारते थे लोटा लेके पानी ढाल लेते थे वो कपड़ा पे तो पानी लगते नहीं था फिर मैंने वैसा चमत्कार तो दोबारा नहीं देखा ऐसी ही पंडित की दशा है दिन भर लगे न ज्ञान ताई से चुप हो रही है पंडितों से सिर मत फोड़ना पलटू कह रहे पंडितों से तू तो बचना ये तो महामूरख है इनको न तो प्रेम का तीर लगा है न प्रेम की पीर लगी है न इनको ध्यान का तीर लगा है न ज्ञान का आविर्भाव हुआ है लाख कहे समझाए वचन मूर्ख नहीं माने तुम कितना ही समझाओ पंडित विवाद करेगा मानेगा ही नहीं तुम जितना मनाओगे उतना ही जिद पकड़ेगा ताके कहा बसाए थान जो अपनी थान है हटी है अहंकारी है अपने ही ठाने रहेगा शास्त्रार्थ करने को राजी है सत्य की खोज में जाने को राजी नहीं इस देश को डुबाया तो पंडितों ने डुबाया इस देश को मिटाया तो पंडितों ने मिटाया इस देश में एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर दी सबको तोता बना दिया हर एक आदमी ज्ञानी मालूम होता है क्योंकि जो देखो वही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा है और जीवन में अपना भी पता नहीं ब्रह्म का तो क्या खाक पता होगा भजन की एक बूंद कंठ से नहीं उतरी भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ है प्रेम की पीर ही नहीं जानी मगर लोगों को शब्द याद हो गए तुलसीदास की चौपाइया दोहरा रही जिनके जगत प्यार ताही से भक्ति ना आवे इस बात को पहचान लेना कि जिन्होंने अभी भी माया से मोह से धन से पद से प्रतिष्ठा से यश से महत्वाकांक्षा से अपना मोह लगा रखा हो अपना प्यार लगा रखा हो समझ लेना ताही से भक्ति ना आवे इनको भक्ति नहीं आ सकती इनको भक्ति असंभव है सत संगति से विमुख और के सन्मुख धावे ये पंडित दूसरों को समझाते फिर रहे हैं और सत संगत से स्वयं विमुख है पंडित है मौलवी है पात्री है पुरोहित है इनको कुछ भी पता नहीं है परमात्मा का मैं वर्षों तक जबलपुर में रहा है ईसाइयों का एक बड़ा कॉलेज लियोनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज वहां पादरी पुरोहित तैयार किए जाते एक तरह की फैक्ट्री जहां ईसाई मिशनरी तैयार किए जाते उस कॉलेज के प्रिंसिपल कुछ कुछ मेरे चक्कर में पड़ गए तो मुझसे मिलने आने लगे आदमी भले थे मुझे कहा एक बार कि आप भी कभी आए हमारा कॉलेज देखें सात सौ मिशनरी तैयार हो रहे पांच वर्ष लगते हैं तैयार होने में मैंने उनसे कहा कि कॉलेज में कैसे तुम धार्मिक व्यक्ति को तैयार करोगे धर्म की कोई शिक्षा तो हो नहीं सकती तो धर्म तो संक्रामक होता है सदगुरु के पास बैठ के लगती है ये बीमारी इसकी कोई शिक्षा नहीं हो सकती पर फिर भी मैं आऊंगा मनोरंजन रहेगा देखो क्या शिक्षा होती तो उन्होंने जगह जगह मुझे घुमाया जो शिक्षा देखी वो सच में मनोरंजन थी एक जगह आखिरी कक्षा में इस वर्ष के बाद जो पादरी हो जाएंगे उनको एक पाठ पढ़ाया जा रहा है कि जब तुम बाइबल समझाओ लोगों को तो किस तरह खड़े होना किस शब्द को जोर से बोलना किस शब्द को बोलते वक्त आंखें आकाश की तरफ उठाना किस शब्द को बोलते वक्त मुट्ठी बांध लेना किस शब्द को बोलते वक्त जोर से टेबल पीटना मैंने उनसे कहा तुम अभिनेता पैदा कर रहे हो कि तुम धर्म को जानने वाले लोग पैदा कर रहे हो लौटते में मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है ऐसे ही एक कॉलेज में अध्यापक समझा रहा है विद्यार्थियों को कि जब तुम समझाओ लोगों को धर्म बाइबल समझाओ जब स्वर्ग का वर्णन करो पूरा मुंह मुस्कुराहट से खुल जाना चाहिए सारे दांत दिखाई पड़ जाए आंखों में एकदम चमक आ जाए जैसे बिजली कौन गई चेहरे पे एकदम ओत छा जाए मस्ती छा जाए एकदम मगन का मालूम पड़े स्वर्ग का वर्णन ऐसे ही मत कर देना वर्णन का परिणाम तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ना चाहिए एक विद्यार्थी ने खड़े होकर पूछा और जब नरक का वर्णन करना पड़े तब तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारी जो साधारण सूरत है उससे काम चल जाए नरक का वर्णन करने के लिए तुम्हें कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं बस तुम सीधे खड़े हो जाए तुम्हें देखते लोग समझ जाएंगे कि नरक की क्या हालत है असलियत तो ये है कि नरक जैसा चेहरा है नरक जैसा व्यक्तित्व है और स्वर्ग का अभिनय करना सिखा रहे हो मगर यही चल रहा है एक जैन मुनि मुझसे मिलने आए थे मुझसे कहने लगे आप भी गजब थे रोज बोलते मेरे पास तो सिर्फ चार व्याख्यान है और अलग अलग समय के लिए मैंने तैयार कर रखी है जहाँ कम समय है वहाँ दस मिनट का एक व्याख्यान तैयार कर रखा है एक बीस मिनट वाला भी है एक तीस मिनट वाला एक चालीस मिनट वाला चार से मैंने जिंदगी में काम चला लिया आप भी गजब बोलते ही चले जाते कैसे बोलते कुछ मुझे भी नुस्खा दे क्योंकि कभी कभी एक ही गांव में वही वही व्याख्यान बार बार देने में मुझे भी बेचैनी होती इसलिए तो मैं ज्यादा देर एक गाँव में रुकता भी नहीं और महावीर ने कहा भी कि मुनि एक गांव में ज्यादा दिन न रुके तो मैंने कहा अब मेरी समझ में आया कारण तीन दिन से ज्यादा रुकने को कहा भी नहीं और चार व्याख्यान पर्याप्त भूल चूक कभी जरूरत पड़ जाए तो एक अतिरिक्त और क्या चाहिए तीन दिन तो महावीर ने कहा बस तीन दिन में खिसक जाना तो मैंने कहा कि मैं पढ़ता तो था शास्त्र में कि तीन दिन से ज्यादा मुनि एक गांव में रुके नहीं लेकिन कारण आपको देख के समझ में आया का चार भी बहुत है एक भी अतिरिक्त है आपके पास वो भी किसी समय असमय के लिए मैंने उनसे कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन बैठा है अपने घर के भीतर नंग धड़क गांधी टोपी लगाए किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने ऐसे धीरे से दरवाजा खोला जरा सा दरवाजा खोला झांक के देखा उसने भी झांक के देखा जो बाहर आया था दंपति पति पत्नी उनने भी देखा वो भी जरा हैरान हुए मगर अब करें क्या अब एकदम से वो दरवाजा बंद भी नहीं कर सकता और वो भी एकदम से लौट नहीं सकते ये बात जरा बदती हो जाएगी तो उसे भी कहना पड़ा आइए आइए और उनको भी आना पड़ा तो पति सामने हो गए पत्नी जरा पीछे हो गई भारतीय पत्नी वो जरा पति के पीछे छिप गई उसने कहा कि पति तो किसी तरह इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि अपने को क्या मतलब है कम से कम टोपी तो लगाए हो तो बाकी ज्ञान है टोपी असली चीज बाकी तो सब गौण इज्जत तो टोपी में बाकी देखने ही क्यों अपनी नजर टोपी पे रखो मगर पत्नी से न रहा गया पूछी बैठी तो और सब तो ठीक है टोपी भी बिल्कुल ठीक है मगर क्या मैं पूछ सकती हूं कि नंधड़न क्यों बैठे तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बात यह है कि इस समय मुझसे कोई मिलने आता ही नहीं इसलिए धर्म मजे से बैठा हूं गर्मी का वक्त पसीना पसीना हुआ जा रहा हूं और कोई इंसान मुझसे मिलने आता ही नहीं इसलिए नंद नंधड़ंग बैठा हूं तो पत्नी ने कहा ठीक है नंद नंदरंग बैठे कोई मिलने नहीं आता फिर टोपी क्यों लगाए हुए तो उसने कहा ये कि कभी भूल चुक से कोई आ जाए अब जैसे आप ही आ गए तो मैंने उनसे कहा कि ठीक तीन दिन रुकना चार भाषण याद रखना कभी भूल चूक बीमारी इत्यादि कुछ हो जाए चार दिन रुकना पड़े तो काम चल जाए मैंने तो शास्त्र में वचन लिखा था लेकिन उसकी व्याख्या नहीं थी तुम्हें देख के व्याख्या समझ में आ गई अब ये लोगों को अध्यात्म दे रहे हैं इस तरह के लोग ये हिज मास्टर वॉइस देखो ना कुत्ता बैठा चौंगे के सामने ये तुम्हारे मुनि महाराज ये तुम्हारे पंडित जी ये तुम्हारे शास्त्री सत्य संगति से विमुख और के सन्मुख धारे यहां वहां शोरगुल मचाए फिरते हैं और सब संगति से विमुख है बुद्धों से तो बचते बचना ही पड़ेगा क्योंकि उनके सामने खड़े होना दर्पण में अपना चेहरा देखना है देखना चाहता है कि मैं मूड कौन देखना चाहता है कि मैं पापी हूँ कौन देखना चाहता है कि मैं गरीब हूँ कौन जानना चाहता है कि मैं जीवन गंवा रहा हूँ लोग तो अपने से गए बीतों की दोस्ती करते क्योंकि उनके बीच अहंकार को तृप्ति मिलती समझदार छाया में बैठा है वही सत्संग है क्योंकि वहां पाठ मिलेगा निरहंकारिता का वहां देखेगा अपने दोष और दोष दिखाई पड़ जाए तो छोड़ने में देर नहीं लगती दोष का दिखाई पड़ना ही कठिन है छोड़ना तो बहुत आसान है दोष दिखाई पड़ते ही छूट जाता है छोड़ना नहीं पड़ता दिखाई पड़ गया कि गलत है बात खत्म हो गई कोई जान के दीवानों से नहीं निकलता जाने की दीवार है तो निकलती नहीं मानता है कि दरवाजा है तो दीवार से टकरा जाता है कोई जान के पत्थर खाता है हाँ धोखा हो जाए मिठाई का तो बात और जानना ठीक ठीक जानना जीवन का रूपांतरण ज्ञान मुक्ति है सत्य संगति से विमुख और के सन्मुख ढाबे और सब जगह तो घूमता फिरता है लेकिन कहीं अगर जीवन की चेतना जगी हो कहीं अगर नया मंदिर परमात्मा का बना हो वहां से बचता है वहां से भागता है सदगुरु की निंदा करेगा पंडित सदा क्योंकि सदगुरु की छाया भी उसे काटती उसे मुश्किल में डालती जिनकर हिया कठोर है और लड्डू धसे न प्रेम वान जाके लगा सो जाने का पीर ऐसे लोगों के हृदय बड़े कठोर है पथरीले हो गए फर्क से भर गए सिद्धांत शास्त्र सबने मिलकर उन्हें बहुत कठोर कर दिया है उनकी निर्दोषता निर्मलता उनकी कोमलता खो गई उनके भीतर कुछ भी स्त्रीण नहीं बचा कुछ भी मधुर नहीं बचा कुछ भी सुकुमार नहीं बचा उनके भीतर फूल जैसा कुछ भी नहीं सब पत्थर है जिनकर हिया कठोर है पलटू धसे नतीस परमात्मा का तीर भी अगर प्रवेश करना चाहे तो उनके हृदय में नहीं प्रवेश कर सकता है बीच में शास्त्रों की दीवार है अगर शास्त्र जिस जोर से प्रेम के तीर को रोकते और कोई चीजें रोकती शास्त्र तो चीन की दीवार समझो प्रेम मन जाके लगा सो जाने का पीर और वही जान सकता है प्रेम के आनंद को प्रेम की पीड़ा को पीड़ा और आनंद दोनों साथ साथ पीड़ा इसलिए कि नया नया अनुभव है अपरिचित और आनंद जिनके द्वार खुल गए सदा से जिसकी तलाश थी उसका निकट उसका सामिप्य मिल गया शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर प्रेम का शब्द सब कुछ छोड़ा देता है राज्य को भी छोड़ा देता है जिसको प्रेम उपलब्ध हो गया है जिसको परमात्मा का तीर चुप गया है उसकी वाणी अगर तुम उसके पास पहुंच जाओ तो सब छोड़ा दे राज्य भी छोड़ा दे शब्द करे फकीर और शब्द ही उसका प्रेम से जन्मा हुआ शब्द ही न मालूम कितने लोगों को संन्यास्त कर देता है फकीर कर देता है सत्य करे फकीर शब्द से राम मिलावे यहाँ तो तुड़वा देता है तुम्हें व्यर्थ से और वहां सार्थक से जुड़ा देता है प्रेम के अनुभव से निकला हुआ शब्द अपूर्व है उसकी कीमिया उसका रसायन जादू है एक तरफ से तोड़ता है आसार से और दूसरी तरफ जोड़ता है सार से जिनके लागा सबक देने कुछ और न भागे और जिनको ये किसी सदगुरु का प्रेम से भरा हुआ शब्द छू गया उन्हें फिर कुछ और नहीं भाता फिर इस संसार में सब फीका फीका लगता है मरे सबक के गांव उन्हीं को सते जियाई ये शब्द ऐसा अद्भुत है सदगुरुओं का कि मार भी डालता है और चिला भी देता है मिटा देता अहंकार को और जन्म देता आत्मा को मरे शब्द के भाव उन्हीं को सके जियाई होगा उनका काम बड़ी रोबे दुनियाई और सिर्फ उन्हीं का काम हुआ है संसार में जो सदगुरु के चरणों में मर गए और जी गए जिन्हें पुनर्जीवन मिला जो द्विज हुए बाकी सारा संसार तो रोता ही रोता रहता है आना और जाना रोना और रोना बाकी सबके हाथ में कुछ भी लगता नहीं होगा उनका काम पर ही दुनिया ही सारी दुनिया रोती रहती है केवल वे ही महोत्सव को उपलब्ध होते जो अहंकार की दृष्टि से मर जाते और आत्मा के रूप में प्रकट होते मगर सदगुरु कितना राज चाहिए कबीर ने कहा हो तैयारी सिर कटवाने की तो आ जाओ कबीर ने कहा है जो अपने घर में आग लगा देने की तैयारी हो तो आओ मेरे साथ घायल भा व फिरे शब्द के चोट है भारी शुरू शुरू में जब चोट लगती तो घायल पक्षी की तरह तरफता है उसकी पीड़ा गहन है यद्यपि अपूर्व है मधुर है प्रीतिकर है भाग भी नहीं सकता इस तीर को निकाल भी नहीं सकता मगर घायल तो होता है जन्म जन्म की पुरानी आदतें टूटती तो घाव तो लगता है घायल भा वा फिरे सबद के चोट है भारी जीते मृतक होए जीते जी मार डालता है गुरु जीते मृतक होए झुके फिर उठे संभारी जीते जी मार डालता है और फिर झुकता है और संभाल के उठा लेता है गुरु के सानिध्य में मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों घटते पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु वो जो गुरु है मृत्यु है महामृत्यु लेकिन महाजीवन भी पलटो जिनके शब्द का लगा कलेजा तीर्थ सब छुड़ावे राज को सब दे करे फकीस लग जाने तो ये तीस ये छीन लेगा जो व्यर्थ है उसे और भर देगा जो सार्थक से जगत का राज तो चला जाएगा लेकिन परमात्मा का राज मिलेगा साहस करो हिम्मत करो तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं हरी से याद के उलवा निखरने लगते हैं तो हर हरी में गैस समरने लगते हैं हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं सबा से करते हैं गुरबत नसीम जिक्र बदन तो चश्मे सुबह में आंसू उभरने लगते हैं वो जब भी करते हैं एक नकतुलब की बखिया गरी फिजा में और भी नगमे निखरने लगते दरे कफस पे अंधेरे की मोहर लगती फैज दिल में सितारे उभरने लगते हैं याद करनी होगी याद जगानी होगी तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते सदगुरु बहाने खोजता है तुम्हारे लिए बहुत बहाने खोजता है यहाँ तुम्हारे लिए कितने बहाने खोजे जा रहे कि किसी तरह याद आ जाए किसी को चुपचाप बैठे बैठे याद आए तो चुपचाप बैठो किसी को बिना छेड़ के याद आए तो बिना छेड़ो किसी को पैरों में घूंगर बांध के याद आए तो घूंगर बांधो कोई सुन के समर्थ मौन में घुस सके तो मौन में गुनो सब उपाय है लेकिन सब उपायों का अर्थ एक है तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते और उसके मंदिर में प्रवेश तो दूर उसकी गली से भी गुजर जाओ तो फिर कोई अपरिचित नहीं मालूम होता सब अपने मालूम होते हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है अजनबी भी परिचित मालूम होता है प्यारा मालूम होता है क्योंकि हर एक के भीतर उसी की झलक उसी की रौनक उसी का जलवा देता है जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते खोजो बहाने सब विधिया विधान बस बहाने किसी तरह तुम्हारे हृदय को उखाड़ने के लिए तुम्हें राजी करना वो तो तीर लिए तैयार उसने तो तीर प्रत्यंग सबका चढ़ा रखा है मगर तुम्हारा हृदय गीता कुरान बाइबल न मालूम कितनी कितनी ओटो में छिपा है हटाओ ये है उतर जाने दो उसका तीस झरने फूट पड़ेंगे आनंद के उत्सव के तुम मालिक हो उन झरनों के गमा मत देना बहुत जन्मों में गमाया है अब और नहीं भजन आत्मी कीजिए और बात में देश और बात में देश जगत में जीवन थोड़ा मानस तन धन जात गोड़ धरी करो हो रहा आज इतना